नमस्कार मित्रों आज तारीख है 8 अगस्त 2011 मैंने एक वीडियो बनाई है अन्ना की मूवमेंट के ऊपर रविवार 5 अगस्त को वो वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी वीडियो आ, आप Rahul Mehta dot com Rahul Mehta dot com slash V dot H T M Rahul Mehta dot com slash V dot H T M पर सारे वीडियो का लिस्ट देख सकते हैं और उसमें डेट भी दी है उसमें आप 5 अगस्त 2011 की वीडियो देखेंगे अन्ना और अरविंद गांधी के ऊपर तो उसमें आपको उसके बारे में मिलेगा उस वीडियो में मैंने बैकग्राउंड दिया था आज ये डिटेल्स है इस डिटेल इसलिए क्योंकि मैं एक मीटिंग अटेंड की अन्ना के ग्रुप की इंडिया अगेंस्ट करप्शन जिसमें ये अन्ना की जो ब्लॉक से पत्रिका ली गई है कि टीम अन्ना का विसर्जन कर दिया और आगे क्या प्रोग्राम है तो वो और वहाँ जो बात हुई वहाँ कोर कमेटी के मेंबर भी थे दिनेश भाई वाघेला और जिस प्रकार का बात हुई या तो रेदर बात की ही नहीं उन्होंने या तो बोलने ही नहीं दिया तो उसके बाद इस मूवमेंट के बाद बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा इस पर मैं पूरा वीडियो बना देता हूँ तो जन लोकपाल का ड्राफ्ट उन्होंने पब्लिक के सामने दिया दिसंबर 2010 के आसपास दिसंबर 2010 नवंबर 2010 के आसपास तो तब हमने पहले जो जन लोकपाल 1.2 था और उसी में काफ़ी कार्यकर्ताओं से बात हुई मेरी तो कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी जन लोकपाल लोकपाल के बारे में तब जन लोकपाल शब्द नहीं था ऑल्टरनेट लोकपाल बोलते थे एक सरकार का लोकपाल और इंटरनेट पे बहुत सारे एक्टिविस्ट हम इनफॉर्मली काम करते थे फेसबुक ग्रुप पे और ग्रुप पे एक दूसरे को ईमेल भेज के तो मुझे कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया बम्बई के कुछ कार्यकर्ताओं ने कि हम लोकपाल के कानून पे काम कर रहे हैं आप भी प्रचार करने में हमारी मदद करो तो मैंने बोला कानून का ड्राफ्ट दो तो उन्होंने ड्राफ्ट भेजा फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो क्या या तो लोकपाल मल्टीनेशनल कंपनी या क्रिश्चियन मिशनरी का एजेंट हो गया और जो ईमानदार अफसर है उनको डराने धमकाने लगा तो ये तो और नुकसान हो जाएगा कि भाई मैं मुकेश अंबानी हूँ यदि तो मैं तो लोकपाल के कानून को सपोर्ट करूंगा कि मेरा काम आसान हो गया अब मुझे सिर्फ दस पंद्रह लोगों को ही रिश्वत देनी है तो जो एक्टिविस्ट थे वो तो जनरली ऑनेस्ट और जेन्यून होते हैं उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम तो हमें भी सता रहा है हमें हमारी भी नींद हराम हो रखी है और इसका कुछ उपाय हो तो बताओ तो मैंने उन्हें राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉज ड्राफ्ट करके दिए ये मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त 2010 की बात अगस्त सितंबर 2010 की बात तो कि यदि लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो पता तो चल ही जाएगा मिनिस्टर का भ्रष्टाचार छिपता तो नहीं है पब्लिक से बड़े भ्रष्टाचार खास करके तो पब्लिक इसे निकाल सकती है और जो पूरा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी आदमी जो लोकपाल बनना चाहता है वो अपना नाम रजिस्टर करा सकता है कोई भी आदमी मतदाता कोई भी मतदाता पटवारी की कचहरी जाके तीन रुपया देके अधिक से अधिक पांच व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है और किसी भी दिन स्वीकृति कैंसिल कर सकता है ये सारा और यदि किसी एक व्यक्ति को 20 करोड़ से ज्यादा स्वीकृतियां मिलती है जो कि मिली हुई स्वीकृतियों में सबसे ज्यादा है तो वो लोकपाल बनेगा ये मैंने मेरा रेफरेंस मटेरियल है Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M उसके चैप्टर फोर्टी फाइव में दिया है पैंतालीस कि गेम ऑफ एमएनसी पाल इसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का पूरा ड्राफ्ट दिया है तो कार्यकर्ताओं को ये ड्राफ्ट अच्छा लगा उन्होंने इस ड्राफ्ट को लोकपाल के ऑल्टरनेट लोकपाल बोलते थे तब लोकपाल में ऐड कर लिया और ये ड्राफ्ट सर्कुलेट होने लगा फिर अक्टूबर 2010 में मुझे किसी ने बताया कि भाई अन्ना और अरविंद केजरीवाल भी इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करके इसका प्रचार करने वाले हैं तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि भाई इतने बड़े आदमी राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करेंगे क्योंकि मेरी जिंदगी में दो ही बड़े आदमियों ने राइट टू रिकॉल को सपोर्ट किया स्वामी रामदेव जी और राजीव दीक्षित जी इसके सिवा जितने भी बड़े नेता या एनजीओ के मालिक वगैरह थे उन्होंने हमेशा राइट टू रिकॉल का विरोध ही किया था पर मैंने कहा आप जब कर रहे हैं तो बात मान लेनी चाहिए फिर जब दिसंबर 2010 में जन लोकपाल का ड्राफ्ट देखा तो उसमें पाया कि राइट टू रिकॉल लोकपाल का पूरा पन्ना था वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया क्यों फाड़ के फेंक दिया वो आगे बताऊंगा कि फोर्ड फाउंडेशन को कभी राइट टू रिकॉल अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे जो पहले आश्चर्य हुआ कि भाई ये फोर्ड फाउंडेशन के आदमी है अन्ना अरविंद गांधी वगैरह तो ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं फोर्ड राइट टू रिकॉल को और वो बाद में अक्टूबर में सच निकला तो अक्टूबर में हमने इसका प्रचार तेज किया अक्टूबर 2010 जो लोग फेसबुक पे हैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के काफी कार्यकर्ता और हमने इस मूवमेंट को एक्सपोज करना शुरू किया अक्टूबर 2010 से ही कि एक तो ये जन लोकपाल का कानून क्यों चाहते हैं ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी उनका काम आसान हो जाए दूसरा ये जन लोकपाल के मास मूवमेंट इसलिए खड़ा करना चाहते हैं कि मास मूवमेंट का एक भ्रम खड़ा किया जा सके क्योंकि लोकपाल तो पास होना ही था सी में मल्टीनेशनल कंपनियों को लोकपाल का कानून चाहिए ताकि 10-15 आदमियों को कंट्रोल में रख के और उनको रिश्वत देके पूरे इंडिया पे कंट्रोल किया जा सके इसलिए उन्होंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को और अन्य मंत्रियों को डरा के धमका के या रिश्वत दे के या भी यही कि इस पे साइन करो तो तुम्हारी नौकरी चालू रहेगी यूएनसीएसी e पे साइन करा United Nation Convention Against Corruption अब नाम तो बहुत अच्छा है कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन कौन खिलाफ हो सकता है मतलब इसको अपोज करेगा पर उसका पूरा ड्राफ्ट पढ़िए तो वो इंडिया में एक की डालने की एक साजिश है उसके सेक्शन फाइव में यूएनसीएसी e के सेक्शन फाइव में लिखा है कि हरेक देश केंद्र और राज्य स्तर पे पांच या दस सदस्यों की एक टीम रखेगा जिसके पास भ्रष्टाचार के केस में किसी भी मंत्री अधिकारी वगैरह को प्रोसिक्यूट और इन्वेस्टिगेट करने का पावर होगा यानी यूएन ने यूएन पे जो साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूएन सी e पे साइन किया उससे तय था कि अभी साल दो साल में लोकपाल का कानून आएगा तो अभी लोकपाल का, का पब्लिक को पता लगता है कि लोकपाल का कानून यूएन के दबाव से आ रहा है यूएन यानी मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी उनके दबाव से आ रहा है तो कांग्रेस के सांसदों की इज्जत खत्म हो जाएगी सारे सांसदों की इज्जत खत्म हो जाएगी इसलिए सारे पार्टियों के सांसद ये चाहते थे कि मास मूवमेंट का एक ढकोसला एक ढोंग खड़ा होना चाहिए कंट्री में ताकि हम कह सके कि भाई हम तो लोकपाल का कानून मास मूवमेंट की वजह से ला रहे हैं यूएन की वजह से नहीं ला रहे तो ये सारी चीजें में हमने जो एक्सपोज किया और साथ में कि यदि देश का भला हो जाता है तो भला हो जाए दो में से एक किया हमने अक्टूबर नवंबर 2010 में अन्ना और उनकी टीम अन्ना को राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के सारे ड्राफ्ट अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में डिटेल से ड्राफ्ट करके दिया और उनके सैकड़े कार्यकर्ताओं को आप फेसबुक पे काफी कार्यकर्ता आपको मिलेंगे जो इस बात की गवाही देंगे कि हाँ भाई राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के बारे में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकर्ता राइट टू रिकॉल ग्रुप के कार्यकर्ता मैं राहुल मेहता <coughs> मेरे अन्य साथी उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के बारे में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2010 में ही लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की थी अधिकतर कार्यकर्ताओं को ये क्लास पसंद आया उन्होंने ध अन्ना और अरविंद गांधी को कहा कि भाई ये क्लास होना चाहिए लोकपाल के ड्राफ्ट में जन लोकपाल के ड्राफ्ट में उन्होंने ये बात नहीं मानी उसके बाद मूवमेंट में और परिवर्तन आए कि फरवरी में फिर दूसरा एक घटना जो हुई कि नवंबर 2010 में दीक्षित जी का देहांत हो गया उनका मर्डर हो गया यूं कहूंगा मैं और दीक्षित जी मास मूवमेंट शुरू करना चाहते थे राइट टू रिकॉल स्वदेशी काले धन के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर ये उनकी वीडियो में आपको मिलेगा नवंबर 28 2010 नवंबर 28 2010 उनकी हत्या के दो दिन पहले का वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम right to recall right to reject स्वदेशी इन मुद्दों पर जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं जबकि कुछ लोग चाहते थे कि ऐसे मुद्दों पर जन आंदोलन न हो और लोकपाल जैसे चिल्लर मुद्दे पे जन आंदोलन हो अब फरवरी 27 को स्वामी रामदेव जी ने जो मीटिंग रखी जिसमें लाखों की संख्या में हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे लेकिन अधिकतर पेड मीडिया ने उसको दस मिनट का भी कवरेज नहीं दिया पूरे दिन वो मीटिंग चली थी जिसमें काफी वक्ता थे अन्ना अरविंद गांधी आ, आ, स्वामी रामदेव जी तो थे ही दीक्षित जी नहीं थे क्योंकि उनका देहांत हो चुका था ये फरवरी 2011 की बात कर रहा हूँ और विश्वबंधु गुप्ता वगैरह और उस मीटिंग का कुछ कवरेज नहीं मिला और तब स्वामी जी ने ये घोषणा की थी कि हम काले धन के मुद्दे पर आ, मास मूवमेंट शुरू करेंगे और इस मास मूवमेंट को फेल करने के लिए इसमें इसका प्रभाव कम करने के लिए और स्वामी रामदेव जी का प्रभाव करने के लिए अप्रैल 4 2011 को अन्ना जी का अनशन रखा गया अप्रैल 4 से अप्रैल 8 2011 ये अनशन चला और जिन अन्ना को पूरे देश के आधे परसेंट लोग भी नहीं जानते थे उसको पेड मीडिया ने दिन के चौबीस घंटे का कवरेज दिया हर एक टीवी चैनल फिर वो एम जैसा सड़ा चैनल हो या स्टार न्यूज जैसा न्यूज चैनल हो हर एक चैनल द अन्ना को उस समय वो अन्ना थे बाद में द अन्ना बने अन्ना को 24 घंटा दिखाना शुरू किया और उनको एक मास हीरो बना दिया ताकि स्वामी रामदेव जी का प्रभाव कम हो सके ये स्ट्रेटेजी पे, पेड मीडिया यानी पेड मीडिया के पीछे मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी है कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है वो बात भी सही है क्योंकि कांग्रेस के पीछे भी एमएनसी और मिशनरी है कांग्रेस का जो टॉप है कांग्रेस के जो इलीट 100 200 डीलर है वो सब के सब बिके हुए हैं वो सब मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के एजेंट है तो आप कांग्रेस कहो या एमएनसी ओनर और मिशनरी कहो वो one and the same thing हुआ एक ही चीज हुई आ, तो और अप्रैल चार और अप्रैल आठ में देखिए कि मीडिया ने उसको पूरा पूरा 100 परसेंट कवरेज दिया मैं कहूंगा 200 परसेंट कवरेज दिया और उस समय बात कि जनलोकपाल पे लिए कमेटी बनानी चाहिए और क्योंकि कांग्रेस भी चाहती थी कांग्रेस के नेता भी चाहता थे चाहते थे कि अन्ना और अरविंद गांधी उभर के आए ताकि वो बड़े नेता बने ताकि वो जब इलेक्शन लड़े तो बीजेपी के वोट काट सके ये स्ट्रेटेजी उस समय इतनी क्लियर नहीं थी अब तो क्लियर हो गई उस समय इतनी क्लियर नहीं थी लेकिन फिर भी अप्रैल आठ दो जब अन्ना का अनशन खत्म हुआ तब पूरा भारत पूरा भारत तो क्या मैं कहूँगा पूरी दुनिया या शायद पूरे ब्रह्मांड का रोम रोम कान कान उनकी तारीफ कर रहा था तब फेसबुक पे भी मेरे आर्टिकल देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स है right to recall against corruption community के इसी अप्रैल महीने 2011 के तब मैंने ये लिखना शुरू किया था कि ये आदमी फोर्ड फाउंडेशन का एजेंट है अन्ना और बाकी उसके साथी और सारों की हिस्ट्री लिखी थी जो भूषण है जो कि बरसों से मतलब आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए इनके बारे में भी पर मेन फोकस मेरा अन्ना और अरविंद गांधी पे था कि ये फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट है इन्होंने ये पूरी मूवमेंट शुरू की है ताकि इस बात को ढका जा सके कि लोकपाल सी की वजह से आ रहा है और इस बात को ढका जा सके कि ये लोकपाल भारत में की थोपने का एक यंत्र है और स्वामी रामदेव जी का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए और साथ में काले धन की मूवमेंट को रफा दफा करने के लिए और कांग्रेस का इसके पीछे एक और मकसद था कि इनको देश के एक बड़े नेता की तरह उभारते हैं फिर इनको कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट पार्टी बनाओ एक अलग से पार्टी बनाओ तो वो जब इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो वोट किसके खींचेंगे एजुकेटेड मिडिल क्लास के और एजुकेटेड मिडिल क्लास किसको वोट देता है मान लो कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव ना हो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस हो तो एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर है वो जनरली बीजेपी को वोट देता है बड़ी संख्या में मतलब 70, 80, 90 परसेंट की तादाद में वो बीजेपी को वोट देता है तो यदि धाना और अरविंद गांधी को मिडिल क्लास हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है तो बड़ी संख्या में वोट उनके खाते में जाएंगे वो तो इलेक्शन जीतेंगे नहीं तो लेकिन बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे तो इस तरह से कांग्रेस की 30, 40, 50 सीट बढ़ जाएगी ये गिनती से कांग्रेस ने भी मीडिया को पैसा देना शुरू किया कि इन्हें नेता की तरह उभर आ जाए अब ये साफ साफ दिख रहा है कि इनकी नीयत मैं क्यों अप्रैल 2011 में कह रहा था कि इनकी नीयत में खोट है किस सबूत के आधार पर या किस चीजों के आधार पर कि जब इनको बताया गया कि भाई राइट टू रिकॉल जन लोकपाल होना चाहिए तो सबने मना किया भाई कौन ईमानदार आदमी राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध करेगा यहीं पे इनकी नीयत पे शंका करनी चाहिए थी मैंने की अधिक आप में से कईयों ने नहीं की और अब आप कर रहे हैं जो जब मैं अप्रैल में ये सारे डॉक्यूमेंट लिखता था और फेसबुक पे कमेंट डालता था तो लोग मुझे बोलते थे कि आप कांग्रेस के एजेंट हो मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ इस तरह से आप अन्ना जैसे बहुत ही ईमानदार शरीफ आदमी जो कि भारत में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लड़ रहा है उसको बदनाम कर रहे हो अरविंद गांधी जिन्होंने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको बेकार में बदनाम कर रहे हो और मैंने कहा कि भाई ये अच्छे आदमी हैं तो ये राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का ड्राफ्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं तो फिर से मेरे पे ही दोष डाला जाता कि आपने ड्राफ्ट समझाया नहीं मैंने कहा क्या नहीं समझाया जब मैं तुमको समझा सकता हूँ तो इनका तो इतना एक्सपीरियंस है तीस पैंतीस साल की पब्लिक लाइफ का और उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इतने साल काम किया है पाँच दस साल तो वो तो ड्राफ्ट पढ़ के पांच मिनट में समझ जाएंगे और बाकी काफी एक्टिविस्ट ने भी मुझे बताया कि भाई मैंने इस ड्राफ्ट का एक एक लाइन हिंदी में अन्ना को सुनाया एक एक लाइन अंग्रेजी और हिंदी में अरविंद गांधी को सुनाया उनके सारे डाउट क्लियर हो गए उनका एक डाउट था कि भाई वोट खरीदे जाएंगे तो तो उसका भी जवाब दिया एक्टिविस्ट ने कि भाई इसमें प्रोविजन है राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का ड्राफ्ट जो मैंने दिया है चैप्टर 45 में कि वोटर जो मतदाता है वो किसी भी दिन अपने स्वीकृति को किसी भी दिन अपनी स्वीकृति को चेंज कर सकता है ये चैप्टर 45 में मैंने दिया है तो मान लो मैं किसी मतदाता को बोलता हूं मान लो किसी मतदाता को बोलता हूं कि आप मुझे स्वीकृति दो मैं सौ रुपया दूंगा तो वो मुझे स्वीकृति दे देगा और यदि वो मुझे लोकपाल की जगह नहीं देखना चाहता तो दूसरे दिन मेरी स्वीकृति कैंसिल कर देगा अब लोकपाल बनने के लिए मुझे देश में बीस करोड़ लोगों की स्वीकृति चाहिए तो करोड़ों लोग मुझे स्वीकृति देंगे दूसरे दिन मेरी स्वीकृति कैंसिल कर देंगे तो मैं क्या बीस करोड़ लोगों से झगड़ने जाऊंगा ये मुमकिन ही नहीं है पहले तो बीस करोड़ लोगों को कैश पहुंचाना भी आसान काम नहीं है और मान लो मैंने पहुंचा भी दिया तो वो लोग दूसरे दिन वोट का अपना अप्रूवल कैंसिल कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन के जवाब देने के बावजूद भी उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध किया इतना ही नहीं एक सामान्य प्रोसीजर हमने डिस्क्राइब की कि कोई आदमी यदि लोकपाल को कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन वेबसाइट पे आनी चाहिए और कोई आदमी उसमें अपना नाम ऐड कराना चाहता है तो ये प्रोसीजर होना चाहिए लोकपाल ड्राफ्ट में कि वो तीन रुपया देके पटवारी की कचहरी में जाके अपना नाम ऐड करा सके और बाद में ये प्रोसीजर एसएमएस और एटीएम पे भी आ सकती है उसका बेनिफिट क्या है कि यदि पांच लाख लोगों की एक ही कंप्लेन है तो पांच लाख लोगों को कंप्लेन फाइल ना करनी पड़े एक आदमी कंप्लेन फाइल करे बाकी पांच लाख लोग अपने नाम जोड़े तो ये बात भी उन्होंने स्वीकार नहीं की jury system within the Lokpal की तो सारे जो लोकपाल के दुर्गुण जो ऑलीगार की है लोकपाल की सारा पावर ग्यारह लोगों के हाथ में उसका जो तोड़ हमने बताया वो सारे तोड़ उन्होंने नामंजूर कर दिए उससे ज्यादा इस कानून का उन्होंने हिंदी में अनुवाद कब दिया मई 15 2011 को मई 15 मतलब पूरी अनशन अप्रैल का खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने हिंदी अनुवाद दिया फिर मैंने कार्यकर्ताओं को पूछा कि आपने ये लोकपाल का 26 पेज का ड्राफ्ट पढ़ा है उस समय 26 पेज का था अब 40 पेज का हो गया लोकपाल 2.1 या 2.2 40 पेज का है ये मैं लोकपाल 1.2 की बात कर रहा हूँ वो तीस वो चौबीस पच्चीस पेज का था तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं पढ़ा मैंने कहा आपको बुकलेट के फॉर्म में दिया गया जैसे कि राइट टू रिकॉल ग्रुप में कोई कार्यकर्ता आते हैं तो हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पूरा 300 पेज वो डाउनलोड करता है ऐसा नहीं कहते कि भाई 300 पेज पढ़ के बाद में आना उसको हम 300 पेज डाउनलोड करने को कहते हैं हमारे ड्राफ्ट है वो पढ़ने को कहते हैं और पहले ही दिन से उसे ड्राफ्ट हम लाइन बाय लाइन पढ़वाने का प्रयत्न करते हैं और समझाने का प्रयत्न करते हैं तो मैंने पूछा कि ये 25 पेज का जो लोकपाल का कानून का ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का कोई प्रयास किया गया कि आपके जो रीजनल लेवल की या तहसील लेवल की मीटिंग होती है तो कहीं उसमें हमको एक ही बोला जाता है कि मेंबर बनाओ और लोगों को लेके आओ संगठन को आगे बढ़ाओ ड्राफ्ट पे कोई चर्चा नहीं होती बस वो दो पेज का समरी दे दिया समरी में सब झूठ लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद तो अभी तक दिया ही नहीं है मैंने कहा कि यदि कोई आदमी ईमानदारी से देश में कानून के मुद्दे पे मास मूवमेंट खड़ा करना चाहता है तो उसका हिंदी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद क्यों नहीं देगा हम जितना हो सके जिसका इसका हमने हिंदी में अनुवाद किया है three zero one dot H dot H T M आपको देखना हो Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H dot H T M पे हिंदी अनुवाद मिलेगा और बहुत सारी पत्रिकाओं का हमने हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है लेकिन इसका जन लोकपाल के कानून का हिंदी अनुवाद भी कब दिया जब मैंने जब मैंने अप्रैल एंड के आसपास इंडियन एक्सप्रेस में एडवर्टाइजमेंट दी अखबार में एक कि जन लोकपाल में राइट टू रिकॉल होना चाहिए और दूसरा इसका हिंदी अनुवाद दीजिए फिर जब मई छब्बीस 2011 को जहां अन्ना अहमदाबाद आने वाले थे तब मैंने आईएससी की जो मीटिंग हुई पांच मई को उसमें मैंने बताया और ईमेल से भी भेजा कि मैं मीडिया के सामने अन्ना जी को कहूंगा कि आप ये 40 पेज का जन लोकपाल के ड्राफ्ट का कोई भी एक पन्ने का कोई भी एक पैराग्राफ मुझे पढ़ के बताओ और जाहिर है वो नहीं पढ़ पाएंगे तब मैं मीडिया के सामने ही जो कानून आपने पढ़ा नहीं है उसके बलबूते पे आप कितना उछल रहे हो कि ये कानून से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा तो तब उन्होंने मई पंद्रह को ग्यारह को हिंदी अनुवाद दिया और वो भी उसकी ऐसी कठिन हिंदी कि कोई ए का स्टूडेंट भी उसे समझ ना पाया आसानी से जो जन लोकपाल का अंग्रेजी ड्राफ्ट था उसकी भी अंग्रेजी बूझ के इतनी कठिन बनाई गई थी कि लंदन का वकील भी उसे समझ ना सके आप जन लोकपाल का कानून का पांच पेज पढ़ना और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लेना आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा एक या दो रीडिंग में पूरा समझ जाओगे जबकि जन लोकपाल में दावे से कहता हूं आप पांच बार क्या पच्चीस बार पढ़ोगे ना तो भी आसानी से समझ में नहीं आएगा जानबूझ के इतनी कठिन अंग्रेजी में लिखा इन्होंने क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कार्यकर्ता जन लोकपाल के ड्राफ्ट को पढ़े तो ये सारी चीज़ों से मैंने अप्रैल 2011 में ही प्रचार करना शुरू किया कि ये फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट है भारत की जनता को धोखे में रखना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को धोखे में रखना चाहते हैं आगे जाने पे इनका जो भी मकसद हो पर अभी से साफ साफ पता लग रहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है दूसरा कुछ टाइम के बाद स्पष्ट हो गया कि मीडिया इन्हें सपोर्ट कर रहा है कैसे कि जून कांग्रेस और मीडिया दोनों इनको सपोर्ट कर रहे हैं आप जून चार 2011 को जब स्वामी रामदेव जी और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ उसका और अगस्त 15 को कंपैरिजन कीजिए कांग्रेस के मंत्री यदि चाहते तो अन्ना को 14 अगस्त 2011 को अरेस्ट करके हेलीकॉप्टर से किसी कोने में भेज सकते हैं राजस्थान या मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश में नहीं वहाँ तो बीजेपी की सरकार पर कांग्रेस या या महाराष्ट्र की कोई जगह पे कि आप इस जगह से बाहर नहीं जाएंगे या अनशन करना हो तो करो और वहाँ मीडिया मीडिया कुछ नहीं तो अपने आप पब्लिक की नज़र से गायब हो जाते हैं लेकिन उनको अरेस्ट कब कर किया गया सुबह आठ बजे जब पूरा देश टीवी देख रहा है क्योंकि पंद्रह अगस्त छुट्टी का दिन है हर एक आदमी टेबल पर बैठा है चाय पी रहा है टीवी देख रहा है तो सुबह छह सात सात आठ बजे उनको अरेस्ट किया गया ताकि मीडिया और मीडिया को पूरा लाइव कवरेज देने का आ, मौका दिया गया यहाँ तक कि धन्ना को जब तिहाड़ जेल ले गए तो वहां भी उन्हें लाइव कवरेज देने का मीडिया को मौका दिया गया जेल के अंदर तक कैमरा ले जाने दिया तो इससे साफ पता लग रहा था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर चाहती थी कि इस आंदोलन को समर्थन मिले दूसरा रामलीला मैदान जिसमें बारिश की वजह से पूरा मैदान पानी पानी गीला था उस पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रैक्टरों ने आके रेत डाली हो सकता है उसका खर्चा दे दिया मुझे नहीं पता वो खर्चे की चिंता नहीं है मुझे और पूरे मैदान को बैठने लायक और स्टेज डालने लायक लगाया बनाया यानी साफ दिख रहा है कि रामलीला मैदान की परमिशन देने के बाद जो ग्राउंड खड़ा करने का काम था वो भी गवर्नमेंट ने या कांग्रेस ने किया और उसके बाद पूरे पंद्रह दिन रोज टीवी चैनल उसको फुल कवरेज देते थे यदि कवरेज नहीं देते तो मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाती थी और उल्टा देखिए कि जून चार को पुलिस को आदेश दिया कि स्वामी जी के समर्थकों की पिटाई करनी है पंडाल को आग लगाना है ये आदेश सुरपंखा गांधी मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने पुलिस को दिया था तो कब करने को दिया रात को दो बजे तब लाइव कवरेज हो नहीं रहा और हो रहा है तो कोई देख नहीं रहा रात को सब सो चुके हैं रात को दो तीन बजे घटना होती है यानी दूसरे दिन अखबार में भी नहीं आएगी और तीसरे दिन अखबार में आएगी तब तक खबर एक तरह से स्केल हो चुकी है बासी हो चुकी है क्योंकि दूसरे दिन लोगों ने आठ नौ बजे टीवी में देख लिया और उसके बाद मीडिया ने लगातार स्वामी जी का नेगेटिव कवरेज किया कि स्वामी जी की गलती थी जो हुआ वो यहाँ तक कि कुछ लोग तो स्वामी रामदेव जी को कुछ जर्नलिस्ट रामदेव कहके ही पुकारने लगे टीवी पे स्वामी भी नहीं शब्द बोलते थे न बाबा बोलते थे न स्वामी बोलते थे न रामदेव जी बोलते थे मतलब एक तरह का डिग्रेडेशन क्योंकि उनके जो उनको जो पैसा आता है मीडिया को मल्टीनेशनल कंपनियों से मिशनरियों से सऊदी अरेबिया से वो किसी भी हालत में स्वामी रामदेव जी को मूवमेंट के गिरा के अन्ना की मूवमेंट को उभारना चाहते थे तो अगस्त 15 2011 की अन्ना की मूवमेंट हुई इसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और मीडिया यानी मल्टीनेशनल कंपनी मिशनरी ने उनको फेवरेबल कवरेज दिया था उसके बाद जन लोकपाल कानून पार्लियामेंट में आया अब इस मूवमेंट को ब्रेक लगाना चाहते थे क्योंकि पब्लिक में ऐसा परसेप्शन नहीं खड़ा होना चाहिए कि मास मूवमेंट से कुछ हो सकता है एक ये इसलिए एक हीरो की तरह इनको उभार दिया मिडिल क्लास हीरो की तरह लेकिन मास मूवमेंट के कंसेप्ट को खत्म करना था इसलिए दिसंबर मूवमेंट को खास कवरेज नहीं मिला और उस समय और भी बहुत सारे कारण आ गए थे साथ में और अन्ना का जो दिसंबर का अनशन था उसमें अटेंडेंस कम हुई दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि दिल्ली में बहुत ठंड थी ये कुछ अजीब सी बात है कि देश के लिए मरना चाहते हैं लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए दिल्ली में नहीं बॉम्बे जाएंगे अन्ना को तो शायद ठंड का फर्क पड़े ना पड़े लेकिन उनके कार्यकर्ता है मुझे नहीं लगता था कि वो ठंड में बैठने को तैयार थे इसलिए वेन्यू बॉम्बे शिफ्ट हुआ और उसमें पूरा जो कोऑर्डिनेशन था वो टूट गया अब उसके बाद जून तीन को जून तीन 2012 स्वामी जी ने घोषणा की कि अगस्त नई को नौ को अगस्त नाइन्थ अगस्त को वो एक रामलीला मैदान में बड़ा अनशन करेंगे और उसको तोड़ने के लिए अरविंद गांधी ने ये 27 जुलाई के अनशन की घोषणा की मैं अरविंद गांधी इसलिए कहता हूँ जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सोनिया गांधी ने उन्हें एडॉप्ट किया है ही is adopted son of Sonia Gandhi और इसलिए नाम चेंज किया है पुराना नाम जो भी हो अब कोई मतलब नहीं रहता अब नाम अरविंद गांधी है और पूरा एडॉप्शन का भी इसी तरह से है कि एडॉप्शन के बाद पूछा कि माते राजमाता माते जो भी है मैं मातृ ऋण कैसे चुका सकता हूँ तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करो कांग्रेस को जिताने में मदद करो तो कहा कि उन्होंने कहा अरविंद गांधी ने कि भाई कांग्रेस के वोट तो मैं भगवान भी अब नहीं बढ़ा सकता महंगाई इतना भ्रष्टाचार आतंकवाद के मुद्दे पे देश जल रहा है आसाम पूरा सोनिया गांधी ने बांग्लादेशियों को बेच दिया या सऊदी अरेबिया को बेच दिया उन्होंने बांग्लादेशियों को घुसा दिया तो ऐसे हालात में कांग्रेस के वोट तो मैं किसी हालत में नहीं बढ़ा सकता मैं ये कर सकता हूं कि मैं अलग पार्टी बना के एजुकेटेड मिडिल क्लास के वोटर के वोट खींच ले जाऊंगा तो कांग्रेस के वोट शायद न बढ़े लेकिन बीजेपी के वोट जरूर कम हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के वोट जरूर कम हो जाएंगे और इससे कांग्रेस को ज्यादा सीट मिलेगी और इसलिए फिर आ, अलग पार्टी बनाने की घोषणा आज हुई अब जुलाई जुलाई सत्ताईस को ऐसा नहीं है कि मीडिया ने कवरेज नहीं दिया आप थ्रू आउट देखिए मीडिया का कवरेज पॉजिटिव था मीडिया ने ये नहीं कहा यह मूवमेंट गलत है मीडिया ने यह कहा कि लोग इस मूवमेंट में नहीं आ रहे लोग इस मूवमेंट में नहीं आ रहे यानी ये लोगों को एक तरह से मोटिवेट करने का तरीका था कि आप इस मूवमेंट में जाइए ये मूवमेंट अच्छी है लेकिन लोग इस मूवमेंट में नहीं आ रहे बार बार जो कवरेज आ रहा था वो ये था कि ये मूवमेंट अच्छी है लेकिन लोग इस मूवमेंट में नहीं आ रहे मूवमेंट अच्छी है लेकिन लोग इस मूवमेंट में नहीं आ रहे और इस तरह से उन्होंने लोगों को उकसाया कि इस मूवमेंट में जाओ और गए कुछ लोग मूवमेंट में बाद में संख्या 5000 7000 जितनी होने लगी पर जो बुनियादी सवाल थे कि भाई जन लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो क्या ये सवाल हमेशा दबा दिया जाता था इसलिए बड़ी संख्या में आईएससी से कार्यकर्ता खिसकने लगे आप आईएससी के फेसबुक पे जाएंगे तो मिलेंगे बहुत सारे जो बिगिनिंग के कार्यकर्ता थे उन्होंने आईएससी में काम करना बंद कर दिया इसीलिए क्योंकि हमेशा उनकी बात को दबा दिया जाता था कि भाई जन लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो क्या तो क्या आप पॉजिटिव सोचिए नेगेटिव क्यों सोचते हैं जन लोकपाल का कानून पहले आने दीजिए फिर बात सोचेंगे कि भ्रष्ट हो गया तो क्या राइट टू रिकॉल जन लोकपाल की बात कर पहले राइट टू रिकॉल की पहले सिर्फ जन लोकपाल की बात करो बाद में राइट टू रिकॉल जन लोकपाल की बात करेंगे और ये बात 2004 में भी कही थी 2004 में जब ये आरटीआई की बात चल रही थी तब मैंने लेटर वगैरह लिखे थे और उसमें यही लिखा था कि इसमें right to recall information commissioner नहीं है तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो बिक जाएंगे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बिक जाएंगे तो आरटीआई जो लोग आरटीआई की अर्जी करेंगे उसको पाँच पाँच साल तक जवाब नहीं मिलेगा उनका उनकी अपील भी दो दो साल तक पाँच पाँच साल तक चलती रहेगी इसलिए right to recall information commissioner होना चाहिए और तभी भी यही जवाब दिया कि अभी RTI with no right to recall information commissioner pass आने हो जाने दो ये पास हो जाएगा उसके बाद हम right to recall information commissioner की बात करेंगे वो बाद सात आठ साल हो गए अभी तक वो बात नहीं आया तो इस बार जो कमिटेड कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि नहीं राइट टू रिकॉल जन लोकपाल होना चाहिए फिर जिन कार्यकर्ताओं को लालच थी कि भाई ये संस्था आगे जाके बड़ी संस्था हो जाएगी बड़ी संस्था से हम एसोसिएशन होके कुछ नाम कमा लेंगे पैसा कमा लेंगे हमारी कुछ पोजीशन हो जाएगी तो वो लोग तो जो लालची आदमी थे तो वो तो जुड़े रहे आंदोलन में अंत तक और संख्या भी लालची लोगों की बहुत बड़ी होती है तो संगठन भी बहुत बड़ा हो गया इतना मीडिया कवरेज मिल रहा है आ, फंडिंग भी ठीक ठाक था फंडिंग को मैं ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाऊंगा पर उनका फंडिंग ठीक ठाक था और इस तरह से काफी लालची कार्यकर्ता थे वो इस मूवमेंट से आखिर तक जुड़े रहे पर कमिटेड कार्यकर्ता थे वो धीरे धीरे कम हो गए अंत में आंदोलन में से देखा आपने कि प्रभाव उसका कम हो गया क्योंकि जो कमिटेड एक्टिविस्ट थे उनको लगने लगा कि भाई ये जो जन लोकपाल है with no right to recall Jan Lokpal वो देश के लिए हानि करता है तो अब आगे क्या करना तो आगे ये कि भाई किस तरह से बीजेपी के वोट काटे जाए क्योंकि अंत में ये मूवमेंट का स्रोत कौन है फोर्ड फाउंडेशन फोर्ड फाउंडेशन यानी क्या सीआईए मल्टीनेशनल कंपनियों की एक एजेंसी है और उनके पैसे पे इनके एनजीओ चलते हैं वो पैसा बहुत कम है दिए होंगे दो चार करोड़ रुपए फोर्ड फाउंडेशन ने इनको और दूसरे संस्थाओं ने दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कुछ लोग जिंदाल का नाम बोलते हैं अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बोलते हैं पर जो असली पैसा आता है वो आता है in form of media support यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी आप क्या करती है पूरी दुनिया में कि वो जो एनजीओ चलाने वाले या कार्यकर्ता एक्टिविस्ट है उनको पैसा नहीं देती देती है पैसा पॉकेट मनी का कि उनका ऑफिस चल सके उनके फोन बिल निकल सके तो उनको दे देती है पर जो तो एक दो करोड़ पर जो दो सौ पांच सौ हजार करोड़ का एक्सपेंडिचर है वो उनको नहीं देते वो सीधा मीडिया को देते हैं या तो सीधा मीडिया की कंपनी पूरी खरीद लेते हैं कि भाई ये एक्टिविस्ट है इनको मीडिया कवरेज दो तो जो जिस अप्रैल चार से अप्रैल आठ जो मीडिया कवरेज मिला 2011 अप्रैल चार 2011 से अप्रैल आठ उस मीडिया कवरेज की कॉस्ट थी हजार दो हजार करोड़ और वो 2000 करोड़ मल्टीनेशनल ऐसा नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने अन्ना को दिया और अन्ना ने मीडिया को दिया अन्ना ना पैसा लेते हैं ना देते हैं पर वो पैसा उन्होंने सीधा मीडिया को दिया और इस तरह से अन्ना को गिराया ये स्ट्रैटेजी जो है मल्टीनेशनल कंपनियों की भाई सीधा मीडिया को पैसा दे के एक्टिविस्ट को हीरो बनाओ ताकि एक्टिविस्ट यदि कल हमारे खिलाफ हो जाता है तो हम उसका मीडिया कवरेज कट करके उसको वापस हीरो से जीरो बना सकते हैं और दो रीजन से बड़े पैमाने पे ना पैसा देते हैं लेते हैं क्योंकि यदि बड़े पैमाने पे आईएससी e संस्था संस्थाओं को पैसा दिया गया या एक्टिविस्ट लीडर को पैसा दिया गया तो जो एक्टिविस्ट है उनके मन में शंका डाउट जाने लगेगा कि ये लोग कमिटेड नहीं है ये लोग बिके हुए हैं इसलिए इनको एक फकीर रहने दो इनको गरीब रहने दो एक्टिविस्ट लीडर को या तो मिडिल क्लास जैसा आदमी दिखना चाहिए दिखाओ में और जो करोड़ों रुपया है वो सीधा मीडिया को दो अरबों रुपया सीधा मीडिया को दो ताकि वो इनको हीरो की तरह उछाल सके तो अब तो अधिकतर स्ट्रेटेजी तो इनकी क्लियर हो गई है मैं इनकी मीटिंग में गया था कल कल यानी अगस्त सात मीटिंग थी शाम को सात बजे और इसमें अन्ना ने ये ब्लॉग पे लिखा है कि अब हम क्या करेंगे तो एक कहा है कि हम अलग पार्टी बनाएंगे अन्ना ने कहा कि मैं इस मैं खुद इस पार्टी में नहीं जुड़ूंगा लेकिन बाहर से समर्थन दूंगा जो भी है पर उन्होंने इस पार्टी को आशीर्वाद दिया है पार्टी का नाम नहीं क्या हम इसे अन्ना पार्टी कहते हैं जो भी पार्टी बनेगी और इसमें उन्होंने बोला कि हम चुनाव लड़ेंगे चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे और एक पॉइंट इन्होंने कहा चुनाव में चुनकर आने के बाद उनकी बुद्धि का पालट हो गया तो विकल्प क्या है जनता चुनकर देते हैं अच्छा उम्मीदवार समझ के उन्हें चुनकर दे, चुन देती है लेकिन कुर्सी का गुण धर्म है यानी पावर का गुण धर्म है कि कई लोगों की बुद्धि पलट हो जाती है और स्वास्थ्य के कारण वो भ्रष्टाचार करने लगते हैं तो यदि उनका चुना हुआ कैंडिडेट करप्ट हो गया तो क्या उसका जवाब उन्होंने दूसरे पन्ने पे दिया है कि वो राइट टू रिकॉल जैसे कानून बनाएंगे अब ये बात वो अप्रैल 8 2011 से करते ये दूसरी बेईमानी देखिए अरविंद गांधी और अन्ना दोनों की अप्रैल 8 2011 से वो राइट टू रिकॉल की बात करते हैं अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो राइट टू रिकॉल सरपंच आते हैं right to recall corporator right to recall MLA right to recall MP और यदि राइट टू रिकॉल एमपी और राइट टू रिकॉल एमएलए चाहते हैं तो डेढ़ साल हो गए उन्होंने ड्राफ्ट क्यों नहीं दिया ये दोनों महाशय कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस ने डेढ़ साल से जन लोकपाल का कानून पास नहीं किया इसका मतलब कि कांग्रेस की नीयत खराब है तो यही बात उनके ऊपर भी अप्लाई होती है कि उन्होंने डेढ़ साल से right to recall MP right to recall MLA का ड्राफ्ट नहीं किया तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि उनकी नीयत खराब है और ये बात मैंने कल उनकी मीटिंग में कही वहाँ कोर कमेटी के मेंबर दिनेश वाघेला थे मैंने कहा कि भाई कार्यकर्ताओं को मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ और मैं कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तथ्य पूरी प्रजा को बताएं पहला तथ्य कि कोर कमेटी ने जन लोकपाल के ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का पेज नहीं डाला वो तो 100 परसेंट फैक्ट है इसमें मैं कोई आरोप आरोप नहीं कर रहा एक ही सेंटेंस में बोलता हूं कि कोर कमेटी ने जन लोकपाल के ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉज नहीं आने दिए अभी तक दूसरा कि 8 अप्रैल 2011 को right to recall MP MLA की बात की थी सोलह अठारह महीने हो गए अभी तक उन्होंने राइट टू रिकॉल एमपी का कोई ड्राफ्ट नहीं दिया ये बात कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूँ आईएसी को और आईएसी के कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ ये सच बात पूरे देश की जनता को बताए मैं चार साढ़े चार मिनट बोला था और उन्होंने बोला कि आप नीचे बैठ जाओ चुप करो और उसके बाद वो आरोप लगाते रहे कि आप वेस्टेड इंटरेस्ट हो इसके एजेंट हो उसके एजेंट हो और मैं किसी की भी मीटिंग में जाता हूँ एक बार मुझे बोला जाए कि आप चुप हो जाओ तो मैं चुप हो जाता हूँ छब्बीस मई दो को भी यही हुआ था कि राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के बारे में बोलने के लिए मैं स्टेज पे गया और अरविंद गांधी को बात अच्छी नहीं लगी और स्पीकर ने मुझे चार मिनट चार मिनट साढ़े चार मिनट बोला होगा उसके बाद बोला था कि आप मंच से नीचे तो उतर जाओ आ, आ, तो और मैं तुरंत उतर गया किसी और की मीटिंग में जाता हूँ और जब मुझे बोला जाए कि आप बोलना बंद करो तो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ तो वहां पर भी यही बात थी कि सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ाने की बात ही होगी मीटिंग में ये अन्ना की पार्टी अभी तो शुरू हुई है लेकिन शुरू होते ही कांग्रेस के तेवर दिखा रही है बीजेपी के तेवर दिखा रही है कि पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा पार्टी को बाहर का वो वैसे भाषण देते कि अन्ना बोलते हैं कि ये जनता की पार्टी रहेगी जनता इसका मैनिफेस्टो तैयार तय करेगी जनता इसका हमें सुझाव दे और जब मैं सुझाव देने गया कि भाई राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट आपने दिया नहीं है पिछले तो उन्होंने एक ही एक ही चार मिनट में बोला कि आप चुप करो मतलब वहां पार्टी के अंदर वही बात होती है जो कि पार्टी के नेता को सूट करती है और ये बात राइट टू रिकॉल की बात उन्होंने अपने ब्लॉग पे लिखी है उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात अपने ब्लॉग पे लिखी है और मैंने कहा कि डेढ़ साल से राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हो अभी तक प्रक्रिया का ड्राफ्ट आपने पब्लिक को नहीं दिया प्रेस को नहीं दिया यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को भी नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि आप चुप करो तो अब आगे क्या कर आगे इनकी क्या स्ट्रैटेजी लगती है इनकी स्ट्रैटेजी तो साफ दिखती है कि किस तरह से स्वामी जी का 9 अगस्त का मूवमेंट है वो फेल किया जाए उन्होंने एक चोट तो लगा दी एक चोट क्या लगा दी कि अनशन है वो बकवास है ये जो स्टेटमेंट उन्होंने किया ये पांच छह चार अगस्त के आसपास कि अनशन is a time waste political party बनानी चाहिए वगैरह तो इस तरह से अगस्त 9 को 9 को इवेंट को एक बहुत बड़ा धक्का उन्होंने पहुंचा दिया है एक तरह से कहो कि भाई अनशन टाइम वेस्ट है तो आपने डेढ़ साल लोगों को टाइम वेस्ट किया तो इस तरह से उन्होंने भी थोड़ा नुकसान झेल लिया पर पेड मीडिया उनके साथ में यानी पेड मीडिया उनको ये सवाल नहीं पूछेगी कि भाई आपने डेढ़ साल तक अनशन अनशन का बाजी क्यों करते रहे पर अब 9 अगस्त के में ये इस बात को उठाएंगे कि अनशन बकवास है और इस तरह से नौ नाइन अगस्त की मूवमेंट को इन्होंने धक्का पहुंचाया दूसरा अब वो चैलेंज कर रहे हैं कि देखो हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना रहे और पॉलिटिकल पार्टी बनाने में एक नुकसान घाटा इस तरह से है कि अन्ना की पॉलिटिकल पार्टी है वो अधिकतर वोट खींचेगी एजुकेटेड मिडिल क्लास पे यानी वो बीजेपी के वोट कम करेगी मोदी नरेंद्र मोदी के वोट कम करेगी और स्वामी जी पे अब वो कहेंगे चैलेंज करेंगे कि पार्टी क्यों नहीं बनाते अब मेरे हिसाब से भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए एक तो पहले उन्हें अन्ना और अरविंद गांधी की पोल खोलनी चाहिए कैसे पोल खोलनी चाहिए प्रचार ये इंफॉर्मेशन तो आप पब्लिक को दे सकते हैं लेकिन उसके ऊपर भी आप उनसे सवाल पूछ के कह सकते हैं कि भाई इस सवाल का उनसे जवाब मांगो कौन से सवाल का कि प्रशांत भूषण ने कश्मीर की आजादी की मांग की थी क्या इस मांग को जो अन्ना पार्टी बनेगी उस मांग को स्वीकृति देगी दूसरा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अन्ना ने समर्थन दिया था द अन्ना ने और अरविंद गांधी ने अलग तरह से समर्थन दिया था कि जब आसाम में दंगे चल रहे थे बांग्लादेशियों ने दो लाख बोधों को उनके घर से बाहर निकाल दिया तो मैंने काफ़ी आईएसी के कार्यकर्ताओं को कहा कि गंभीर घटना बनी है आप एक आध स्टेटमेंट तो निकलवाइए तो पब्लिक में प्रचार होगा इस बात का मैंने तो अपनी ओर से जितना प्रचार हो सकता था किया मैंने 12 जनवरी 2012 को गुजरात समाचार में मैंने एडवर्टाइज दिया था अहमदाबाद की भाई बांग्लादेश में आसाम में बड़ी संख्या में बांग्लादेश में घुस गए हैं और उसमें एक लाइन लिखी थी कि संख्या उनकी बढ़ जाएगी तो 1947 वाला हादसा रिपीट हो सकता है जो अभी हुआ और ये एडवर्टाइज मैंने देने की कोशिश की थी इंडियन एक्सप्रेस में लेकिन पेड इंडियन एक्सप्रेस में मेरी एडवर्टाइज नहीं ली पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं ली मेरी कि बांग्लादेशों के मुद्दे पे हमें कुछ नहीं छापना एडवर्टाइजमेंट भी नहीं छापनी न्यूज़ तो छोड़ो तो मैंने उन्हें कहा कि यदि उनका स्टेटमेंट आ जाता है मंच से कि हाँ वो जंतर मंतर पे बैठे हैं यदि उनका एक स्टेटमेंट आ जाता है तो देश में अवेयरनेस फैलेगी इस मुद्दे पे तो आईएससी के कार्यकर्ताओं की ये बात अच्छी लगी कि हाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पे अवेयरनेस बढ़नी चाहिए तो उन्होंने कोर कमेटी के लोगों से कहा तो कोर कमेटी ने और ऊपर के लोगों से कहा तो अरविंद गांधी का आदेश आया कि अभी सिर्फ 27 जुलाई की इवेंट पे फोकस करो यानी कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं लाख दो लाख को मार के निकाल रहे हैं मतलब अभी अनशन पे फोकस करो जन लोकपाल पे फोकस करो और ये महाशय कह रहे हैं कि फोकस अभी सिर्फ जन लोकपाल पे करो यानी कि पूरा पूरा आसाम यदि हाथ से निकल जाता है तो भी उनको चिंता सिर्फ जनलोक पाल की है जिसको मैं एमएनसी पाल और मिशनरी पाल बोलता हूँ उनको आसाम पूरा हाथ से निकल जा रहा है या तो दो लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा उनके घर जल गए उसकी उनको परवाह नहीं है तो इस मुद्दे पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको सवाल पूछो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए आप जो ड्राफ्ट प्रपोज कर रहे हैं जैसे जनलोकपाल का उन्होंने 40 पेज का ड्राफ्ट दिया आप क्या ड्राफ्ट प्रपोज करते हैं मैंने जो ड्राफ्ट प्रपोज किया है कि बांग्लादेशों को कैसे निकाला जा सकता है मेरे बहुत सारे आर्टिकल फेसबुक पे हैं और इस पे मैंने दिया है Rahul Mehta dot com slash three zero one dot T M में आ, चैप्टर एक सेकंड ना हाँ, मैं देख के बताता हूँ एग्जैक्ट आपको चैप्टर चैप्टर नंबर देता हूँ चैप्टर 33 सॉरी थोड़ी देर लग गई चैप्टर 33 में कि बांग्लादेशियों को कैसे निकाला जा सकता है ये फिर दूसरा इस मुद्दे पे उनको घेरो कि आप हसन अली ए राजा के नार्कोटेस्ट का समर्थन करते हो या विरोध करते हो आप मोहम्मद अफजल और कसब को फांसी देने की बात का समर्थन करते हो या विरोध करते हो और बांग्लादेशियों का पब्लिक में नार्कोटेस्ट होना चाहिए या नहीं और बांग्लादेशियों को फांसी की सजा होनी चाहिए नहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये सारे सवाल पूछ के उनसे जवाब मांग के फेसबुक पे लिखो फेसबुक पे जितने भी आईएससी के कार्यकर्ता मिलते हैं बाहर आईएससी के कार्यकर्ता मिलते हैं उनको भी आप कहो कि आप अरविंद जी ये सॉरी ये अरविंद गांधी से ये सारे सवाल पूछो और उनके जवाब लेके फेसबुक पे डालो तो इस तरह से ये एक्सपोज हो सकते हैं इनको जितनी हो के जल्दी एक्सपोज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव दिसंबर 2012 में तो खास कुछ कर नहीं पाएंगे दिसंबर 2012 में गुजरात में चुनाव आ रहे हैं क्योंकि गुजरात के मिडिल क्लास के सामने तो ये एक्सपोज हो जाएंगे अहमदाबाद में तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि लाखों पत्रिकाएं मैं बंटवा दूंगा कि ये कांग्रेस के एजेंट है सिर्फ बीजेपी के वोट तोड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं यानी यहाँ तो कम से कम मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन ढोंगियों को एक भी वोट ना मिले मैं इन्हें ढोंगी क्यों कहता हूँ अलग पार्टी बनाई इसलिए नहीं अलग पार्टी बनाना अच्छी बात है भारत में तेरह सौ पार्टियां एक, एक पार्टी आएगी तो कोई नुकसान नहीं होने वाला फायदा ही होगा पर इन्होंने पहले झूठ बोला दिसंबर 2010 से लेकर आज तक झूठ बोलते रहे कि हम अलग पार्टी नहीं बनाना चाहते और इन्होंने इस तरह से आरएसएस के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उपयोग किया कि भाई ये लोग जेन्यूनली भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने चल वाले हैं ये लोग कहाँ बीजेपी के वोट तोड़ना तोड़ना चाहते हैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जो बीजेपी आरएसएस के अच्छे कार्यकर्ता थे उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट दिया कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है तो सबसे उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है नाम जितना नाम ज्यादा हो उतना जो जो सस्पेंडेड वोट होते हैं वो उसकी ओर ज्यादा खींचते हैं सस्पेंडेड वोट यानी क्या कि ऐसे मतदाता जिन्होंने तय नहीं किया अभी तक कि वो इस पार्टी में जाए इस बार और भारत में ऐसे सस्पेंडेड वोटर की संख्या बहुत बड़ी है जो वोटिंग परसेंटेज भारत में पैंसठ परसेंट है पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो अस्सी परसेंट तक हो सकता है पर पंद्रह परसेंट है वो जानबूझ के वोट नहीं डालते मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि जो अपने पेरेंट्स को पोलिंग बूथ तक ले जाते हैं ड्राइव करके या उनके पेरेंट्स एजेड हो वो पोलिंग बूथ तक ले जाते हैं और वो वोट डाले, डाले उनके माता पिता वोट डाल के आते हैं वो वोट डाले बिना बाहर आते हैं क्यों क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई किस पार्टी को मैं वोट दू सारी पार्टियाँ बेकार है तो वो जो सस्पेंडेड वोटर होते हैं उसको नई नया मोहरा कभी कभी अट्रैक्ट कर लेता है पर कब कि जब वो बहुत जाना नाम पहचान ना बहुत जाना माना नाम हो और नाम के लिए मीडिया काफ़ी नहीं होता कार्यकर्ता जोर लगा के जब गली गली में पैम्पलेट बांटते हैं वर्ड ऑफ माउथ जो बोलते हैं उसके द्वारा प्रचार करते हैं उसका सबसे इफेक्ट ज्यादा इफेक्ट होता है तो पूरे देश के लाखों बीएसटी के कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ता बीजेपी का कार्यकर्ता को इन्होंने एक तरह से बेवकूफ बनाया उन्होंने इन कार्यकर्ताओं का अपने नाम का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया और इस तरह से सस्पेंडेड वोटर को उन्होंने अपनी ओर खींचा और जब सस्पेंडेड वोटरों का ध्यान आकर्षित हुआ तब उन्होंने बोला कि अब हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और यदि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते तो ये जितने सस्पेंडेड वोटर थे खास करके एजुकेटेड मिडिल क्लास में वो अधिकतर बीजेपी को और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट तो मई 2014 में नरेंद्र मोदी होंगे अभी अभी से अभी जो ट्रेंड है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ तो ये वोट नरेंद्र मोदी को जाते हैं और वो वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी मंशा तो आप साफ देख रहे हैं कि संजय सिंह ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नरेंद्र मोदी उनके लिए मानवता के हथियार पता नहीं जो भी उन्होंने बोला वो है उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों पर स्टेटमेंट देने को टाइम नहीं है इतने सारे आईएससी कार्यकर्ताओं ने उनको फोन एसएमएस करके भेजा कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर दंगे चल रहे हैं वहां बांग्लादेशी घुसपैठियां घुसपैठियां मार मार के आ, उनके बोधों के घरों को आग लगा के उनको भगा रहे हैं उनकी जमीनें हथियार हैं खेत हथियार हैं तो उस पर स्टेटमेंट देने का टाइम नहीं मिला उन्हें पर मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट देने का टाइम है तो अब इनका मोटिव साफ हो गया कि इनको बीजेपी के वोट तोड़ना है और कांग्रेस की मदद करेंगे ये खुद तो कोई दो चार सीट से ज्यादा शायद सीट जीत ना पाए और जीतेंगे तो भी कांग्रेस के सपोर्ट से जीतेंगे अंडर द टेबल ये एग्रीमेंट कर लेंगे कि इतनी इतनी सीट पे हम कमजोर कैंडिडेट खड़े करेंगे या तो हम सिर्फ बीजेपी के वोट तोड़ने का काम करेंगे और इतनी सीट आप कांग्रेस के कमजोर उम्मीदवार खड़े रखो ताकि हम जीत जाए खैर तो अब मैं जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे सवाल जो मैंने आपको बताए वो आप आईएसी के कार्यकर्ताओं को कहे कि वो कोर कमेटी से पूछे वो रीजनल स्टेट कोर कमेटी को पूछे और वो पूछ के उसके जवाब आप पब्लिक में फैला के कहिए कि भाई इनका एक ही मकसद है बीजेपी पे वोट तोड़ना इनको कोई नया ऑल्टरनेटिव नहीं देना इनकी पार्टी की मीटिंग में जब बात करते हैं कि भाई राइट टू रिकॉल का आपने ड्राफ्ट नहीं दिया तो वो कहते हैं आप चुप बैठिए जो उनका एग्जैक्ट शब्द है कि आप बैठ जाइए ज़्यादा बात मत कीजिए हमें अपना काम कर दीजिए उनके एग्जैक्ट मुझे बुरा नहीं लगा मैं तो आदि हो चुका हूँ राइट टू रिकॉल से ये सारे नेता इतने नफरत करते हैं कि मैं वो जहाँ जाता हूँ वहाँ पहले तो उनको उनका मुंह गिर जाता है निराश हो जाते हैं देख के डर जाते हैं और जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ वो बोलते हैं चुप हो जाओ ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए पर मैं इनके कार्यकर्ताओं को ये साबित करना चाहता कि ये लोग भी वैसे ही हैं जैसे कांग्रेस के और बीजेपी के हैं और ये साबित करके दिखाया मैंने कि जब मैंने उनको बोला कि भाई 16 महीनों से आपने राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं दिया तो उन्होंने बोला कि आप चुप बैठ जाओ तो इन सारे मुद्दे पे आप मैं कहूँगा कि इनको एक्सपोज करने की कोशिश कीजिए समय हमेशा कम होता है आज भी कम है और हो सकता है कि ये मई दो का लोकसभा का इलेक्शन पहले आ जाए पहले आ जाए तो ये लोग मिडिल क्लास में हीरो बन चुके हैं इनकी हीरोगिरी को यदि तोड़ा नहीं गया तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास वोट खींच ले जाएंगे और इससे कांग्रेस को फायदा हो जाएगा इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इनके इनको एक्सपोज करने का काम शुरू कीजिए धन्यवाद